गौर गाव बसहि मग माहे तिलहि लाग सुर नगर सिहाहि कहि सुकृति कहि घरे बसाए धन्य पुण्यमय परम सुहाए जह जह राम चरण चलि जाहे तिन्ह समानयम रावत नाहे पुण्य पुण्यपुञ्ज मग निकट निवासे तिलहे सराहे सुरपुर जो गांव और पूर्वे रास्ते में बसे हैं नागों और देवताओं के नगर उनको देखकर प्रशंसापूर्वक ईर्ष्या करते और ललचाते हुए कहते हैं कि किस पुण्यवान ने किस शुभ घड़ी में इनको बसाया था जो आज ये इतने धन्य और पुण्यमय तथा परम सुंदर हो रहे हैं जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी के चरण चले जाते हैं उनके समान इंद्र की पूरी अमरावती भी नहीं है रास्ते के समीप बसने वाले भी बड़े पुण्यात्मा हैं स्वर्ग में रहने वाले देवता भी उनकी सराहना करते हैं जे भरी नयन बिलो कही राम सीता लखन सहित घन श्यामहि जे सर सरित राम अवगाहि तिनहि देव सर सरित सराहि यही तर तर प्रभु बैठ जाए करही कलप तरु ताशु बड़ाई परशुराम पद पदुम परागा मानति भूमि भूर निज भागा जो नेत्र भरकर सीता जी और श्री लक्ष्मण जी सहित घनश्याम श्री रामचंद्र जी के दर्शन करते हैं जिन तालाबों और नदियों में श्री राम जी स्नान कर लेते हैं देव सरोवर और देव नदियाँ भी उनकी बड़ाई करती हैं जिस वृक्ष के नीचे प्रभु जा बैठते हैं कल्प वृक्ष भी उसकी बड़ाई करते हैं श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की रज का स्पर्श करके पृथ्वी अपना बड़ा सौभाग्य मानती है छाह करही घन विबुध गण भर सही सुमन सिहाय देखत गिरे बन बृहग मृगो राम चले मग जा रास्ते में बादल छाया करते हैं और देवता फूल बरसाते हैं और सिहाते हैं पर्वत वन और पशु पक्षियों को देखते हुए श्री राम जी के रास्ते में चले आ रहे हैं सीता लखन सहित रघुराए गाव निकट जब निक सह जाए सुन सब बार वृद्ध नर नारे चल तुरत गृह आजु विसारी राम निहारी पायि नयन फलु होहि सुखारी सजल बिलोचन पुलक शरीरा सब भय मगन देख दो बीराम सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्री रघुनाथ जी जब किसी गांव के पास जा निकलते तब उनका आना सुनते ही बालक बूढ़े स्त्री पुरुष सब अपने घर और कामकाज को भूलकर तुरंत उन्हें देखने के लिए चल देते हैं श्री राम लक्ष्मण और सीता जी का रूप देखकर नेत्रों का परम फल पाकर वे सुखी होते हैं दोनों भाइयों को देखकर सब प्रेम प्रेमानंद में मग्न हो गए उनके नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकित हो गए बरणी न जाए दसाते न के लहे जनुरंकन सुरमन ढेरी एक हि एक बोल सिख दे लोचन लाहू लेहु छन ये राम देखी एक अनुरागे चितवत चले जाहि संग लागे एक नयन मग छबे उरयाने होशि शिथिल तन मन बरबानी उनकी दशा वर्णन नहीं की जाती मानो दरिद्रों ने चिंतामणि को की ढेरी पाली हो वे एक एक को पुकार कर सीख देते हैं कि इसी क्षण नेत्रों का लाभ ले लो कोई श्री रामचंद्र जी को देखकर ऐसे अनुराग में भर गए हैं कि वे उन्हें देखते हुए उनके साथ लगे चले जा रहे हैं कोई नेत्र मार्ग से उनकी छवि को हृदय में लाकर शरीर मन और श्रेष्ठ वाणी से शिथिल हो जाते हैं अर्थात उनके शरीर मन और वाणी का व्यवहार बंद हो जाता है एक देखी बट छाहे भलिदास मृदु तृण मृदुल तृण पान एक देख बट छाह भलिदास मृदुल तृण पात कहि गवही के छिनुक श्रम गव नव अवहे के प्रात कोई बड़ की सुंदर छाया देखकर वहाँ नरम घास और पत्ते बिछाकर कहते कि क्षण भर यहाँ बैठकर थकावट मिटा लीजिए फिर चाहे अभी चले जाइएगा चाहे सवेरे